वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही था वैसे तो विक्रांत को शुरू से इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अब चूंकि उसने मछली बेचने वाली लड़की को उसका चाकू वापस लाकर देने का वादा कर दिया था ऐसे में अब वो आसानी से इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला था वैसे भी विक्रांत पिछले कई दिनों से किसी से भी नहीं भिड़ा था और ना ही उसने पिछले कुछ दिनों से किसी के साथ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस की थी ऐसे में आज इन लोगों के साथ भिड़ते हुए उसे ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल गया था एक एक करके विक्रांत ने उन सभी लोगों का सामना करना शुरू कर दिया विक्रांत ने एक के बाद एक शख्स को घायल करना शुरू कर दिया अभी तक विक्रांत ने सिर्फ तीन लोगों को पीट कर घायल किया था लेकिन जिस क्रूरता से विक्रांत ने इन तीनों लोगों को पीटा था उसे देखकर बाकी के लोगों के मन में भी खौफ भर उठा उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी आकर उन्हें यूं पीटना शुरू कर देगा अभी विक्रांत ने एक को धराशायी करके जमीन पर गिराया ही था तभी दो और लोग उसकी तरफ भागते हुए आए विक्रांत ने भी बिल्कुल देरी किए बगैर उन दोनों के मुंह पर एक के बाद एक पंच जड़ दिया आओ साले एक एक करके आओ बताता हूँ विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा इसके बाद विक्रांत ने हल्की सांस ली और फिर अगले ही सेकंड वो अपनी पूरी ताकत से भागता हुआ भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और फिर जो भी उसके सामने आता जाता विक्रांत उसके मुंह पर थड़ा थड़ पंच करने लगा भले ही इन लोगों ने अपने हाथों में पत्थर और डंडे वगैरह ले रखे थे लेकिन फिर भी इनके लिए विक्रांत के आगे टिके रहना मुश्किल हो रहा था विक्रांत भी शायद पिछले कई दिनों से कसर पूरी कर रहा था जो भी उसके सामने आ रहा था उसके ऊपर वो अपनी पूरी ताकत से वार कर रहा था हालांकि जो वहां के लोकल मछुआरे थे वो लोग विक्रांत पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी उसके लिए विक्रांत के आगे टिके रहना बेहद मुश्किल हो रहा था जिस किसी के ऊपर विक्रांत का एक भी घूसा पड़ रहा था या तो उसके शरीर की हड्डी टूट रही थी या फिर उसके शरीर से खून की धार निकल रही थी कुछ ही देर में विक्रांत ने उन दोनों गुट के लगभग सभी लोगों को घायल करके जमीन पर धराशायी कर दिया था बड़ी मुश्किल से उसमें से एक ने अपना हाथ विक्रांत के गर्दन तक पहुंचा दिया लेकिन उसने जैसे ही अपना हाथ विक्रांत के गले पर लगाया विक्रांत ने उसके हाथ को पकड़कर ऐसा मरोड़ा कि उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी विक्रांत का इतना आक्रामक रूप देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग सख्ते में आ गए यहाँ तक के पुलिस वालों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर अचानक ये शख्स कौन आ गया है और ये इस तरह से क्यों सबको पीट रहा है पुलिस वालों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर विक्रांत किस गुट की तरफ से लड़ रहा है यहाँ तक कि उन दोनों ग्रुप्स को भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि विक्रांत किसकी तरफ से लड़ रहा है क्योंकि इस वक्त वो किसी एक ग्रुप के लोगों को अपना शिकार नहीं बना रहा था बल्कि जो भी उसके सामने आता जा रहा था विक्रांत उसके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ रहा था जब वहां पर कोई भी विक्रांत का सामना करने के लिए नहीं बचा तब विक्रांत सीधे ही उस आदमी की तरफ बढ़ गया जिसने उस लड़की के हाथों से शौक से चाकू छीना था इस वक्त वो शख्स जमीन पर एक तरफ डरा सहमा पड़ा था विक्रांत ने पहले तो उसके हाथ से चाकू छीन लिया उसके बाद उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया जैसे विक्रांत ने उसके मुंह पर जोरदार पंच जड़ा तुरंत ही उसे गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत चौंक उठा उसे तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से गुट की लड़ाई में गोली भी चल सकती है वो चौकन्ना होकर पीछे मुड़ा जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला वहां पर त्रिवेंद्रम पुलिस की वर्दी पहने इंस्पेक्टर अशोकन खड़े थे कोई हिलना नहीं इंस्पेक्टर अशोकन ने हवा में फायरिंग करते हुए कहा जब विक्रांत की नजर उनसे मिली तो फिर वो बिना कुछ कहे मुस्कुरा पड़ा इंस्पेक्टर अशोकन भी विक्रांत को देख चौंक पड़े उन्होंने विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा सर आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं विक्रांत ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिया हुआ चाकू इंस्पेक्टर अशोकन को दिखाया और फिर वो पीछे मुड़कर उस लड़की को देखने लग गया जो कि थोड़ी देर पहले उसके पीछे खड़ी थी लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वो लड़की गायब हो चुकी थी विक्रांत को अपने पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वो लड़की गायब हो चुकी थी विक्रांत को अपने पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था उसने फिर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा अरे मैं तो ये चाकू लेने के लिए आया था ये किसी दूसरे का है लेकिन ये साला लेकर घूम रहा था हम्म, अच्छा मैं अब चलता हूँ विक्रांत ने नर्वस होते हुए कहा क्या हुआ सर कोई दिक्कत है क्या आपको हॉस्पिटल इधर पास में ही है अगर कोई दिक्कत हो तो चलिए हॉस्पिटल अशोक ने जब देखा कि विक्रांत के चेहरे और शरीर पर थोड़ी चोट लगी हुई है तो फिर उन्होंने उसके इलाज के लिए कहा नहीं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा तुम इन लोगों को अरेस्ट करके ले जाओ और मुझे थैंक यू वगैरह मत बोलना कोई नीड नहीं है इन लोगों को पकड़ने की पूरी क्रेडिट तुम तुम ले लेना विक्रांत अब खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश करने लग गया हम्म हाँ इंस्पेक्टर अशोकन बेहद कंफ्यूज नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लग गए वहाँ मौजूद बाकी के लोग भी विक्रांत को अजीब सी नजरों से देखने लग गए लेकिन विक्रांत सबको इग्नोर करता हुआ वापस से उस लड़की की शॉप की तरफ पड़ गया विक्रांत जब वहाँ शॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़की कहीं गई नहीं थी बल्कि मछली वाले टब के पीछे छुप कर बैठी हुई थी वहाँ पर इतने लोगों को लड़ते हुए देख कर वो डर गई थी वहां पहुंचते ही विक्रांत को अदृश्य शक्ति का मैसेज मिल गया उसका डुप्लीकेट टास्क खत्म हो चुका था और अदृश्य शक्ति की तरफ से उसे 200 पॉइंट्स मिले हुए थे इस 200 पॉइंट्स के साथ अब उसके पास कुल 800 पॉइंट्स हो चुके थे ऐसे में अब वो अदृश्य शक्ति के सिस्टम के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने से सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पीछे था फिर जब विक्रांत वापस उसकी चाकू लेकर पहुंचा तो फिर वो बाहर निकलकर विक्रांत के सामने आ गई अपनी चाकू वापस पाकर वो बहुत खुश हुई विक्रांत ने उसके हाथ में चाकू पकड़ा दिया और एक बार फिर से उसने अपना फोन बाहर निकालकर उसे फोटो दिखाना शुरू कर दिया उस लड़की ने एक एक करके सारी फोटोज देखना शुरू कर दिया वो लड़की भी विक्रांत की फाइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा प्रभावी थी ऐसे में उसने बिना किसी देरी के फटाफट एक एक फोटो को ध्यान से देखना शुरू कर दिया लेकिन सारी फोटो देखने के बाद भी वो उसमें से किसी को भी नहीं पहचान सकी अंत में विक्रांत ने उसे सवाल किया कि क्या तुम्हारी नजर में यहाँ पर कोई संदिग्ध आदमी आता जाता है क्या इस पर उस लड़की ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा ना पता नहीं सर होगा कोई लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया हम्म, विक्रांत ने उससे सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया दरअसल उस लड़की का कहना सही भी था दरअसल वो लड़की डेली शॉप पर नहीं बैठती थी वो सिर्फ संडे को या फिर छुट्टी वाले दिन ही यहाँ आती थी ऐसे में उसे यहाँ आने जाने वालों के बारे में भला कैसे पता होगा विक्रांत का डुप्लीकेट टास्क खत्म हो चुका था और उसे आज के डुप्लीकेट टास्क के लिए पॉइंट्स भी मिल चुके थे लेकिन फिर भी विक्रांत को इतने पॉइंट्स मिलने की तनिक भी खुशी नहीं थी क्योंकि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि डुप्लीकेट टास्क के जरिए उसे केस रिलेटेड कोई न कोई इम्पोर्टेंट क्लू जरूर मिलेगा लेकिन आज के डुप्लीकेट टास्क का उसके केस से कोई कनेक्शन नहीं था थैंक यू सर आपने मेरी चाकू वापस ला दी उस लड़की ने बेहद खुश होते हुए विक्रांत से कहा अच्छा वो मछली लोगे आप कितना दे दूं सर लड़की ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा ओ हाँ दे दो दे दो जितना है सब विक्रांत ने अपना वॉलेट बाहर निकालते हुए कहा ये सब मेरा है